हरामी गैंग यहाँ फूके सब हरा माल रत वक यहाँ आके रती सबकी लाल चिल्लम कटान मारो बॉम्ब वाला शॉट समर और विंटर हमेशा रहते हॉट लॉन्डियों को भाव नहीं सकती अपना स्वैग में भी आके कभी देख आमा ब्लैक नीगर आमा ब्लैक नीगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत मी के ब्लैक नीगर आमा ब्लैक नीगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर जिगरी जो यार है चाहे तो चार है सब वफादार यहाँ फाड़ देते गाड़ है उंगली करे कोई हमें उंगली उनकी तोड़ दे दूर रहता उनसे जो लोग मतलब में मुंह मोड़ दे भाई पगला गया गाना मेरा सुन वो भी बोले मेरा भाई आमा ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रस्ते पे मैटर है लेते हम क्या है टॉमी करे बाकी यहाँ बैठा एक वैकर है सांप पर जगह धोखा देते साथ रह है साथ देखो माया मेरे पागल से रैपर पैसे नहीं पास में आयो थे घास में रखते हैं पैसा हम ब्लैक नहीं गए हम ब्लैक नहीं गए खत्म